Shalom. न्यस्तुनश्यदेवधा Amen. अकर्णे गीता ज्ञाए ज्ञाए हम हम लोग विचार कर रहे थे सोलहवें अध्याय को लेकर तो सोलहवें अध्याय में भगवान ने दो प्रकार के दो प्रकार के वाले मनुष्यों को बता दिया एक तो दैवी संपत्ति से युक्त और दूसरे कहे आसुरी संपत्ति से दैवी संपत्ति से युक्त जो पुरुष है उनका लक्षण भी बता दिया प्रथम श्लोक से लेकर तीसरे छब्बीस लक्षण उसके बाद संक्षेप से आसुरी जो संपत्ति है उसको बता और दोनों जो संपत्ति है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का प्रयोजन क्या है दैवी संपत्ति है मुक्ति के लिए है आसुरी संपत्ति है बंधन के लिए बता दिया पुनः संक्षेप से बताया हुआ जो आखिरी संपत्ति है उसको ही विस्तार पूर्वक भगवान ने बताया तो हम लोगों ने विचार किया था नब्बे श्लोक क्योंकि आसुरी संपत्ति वाले ये मानते हैं जगत का प्रतिष्ठा मतलब आश्रय कोई ये जगत केवल असत है मतलब नाशवान है उसमें मस्त है और जगत की उत्पत्ति का जो कारण है परमात्मा नहीं है कामना ही है उस कामना के द्वारा स्त्री और पुरुष का परस्पर संबंध हो जाता है तभी सारी जगत उत्पत्ति है ऐसा दृष्टि को आश्रय करके और अपना स्वरूप को वास्तव स्वरूप को भूल करके संसार में प्रवृत्त होते अल्प होता है और ये संसार के नाश के लिए अपने हित के लिए उग्र से उग्र कर्म भी करने में तत्पर हो जाते हैं आत्म नौवे श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया दसवें स्वरूप में बता रहे और आसुरी संपत्ति वाला है का स्वरूप बता रहे काम आश्रित्य दुष्पूर्ण दम्भमान पदार्थ दम्भ और मान का भी पहले किया था मान का भी किया था जो दर्प है घमंड है अभिमान है उसको आश्रय करके उसे युक्त होना दुष्पूर्ण काम आश्रित्या काम का विश्लेषण है छोटी मोटी नहीं है अत्यंत कामना है तो पूर्ण हो ही नहीं सकते रुके ना भी पूरा तुम तो ना शक्य ऐसा दुष्पूर्ण जो कामना है उस कामना को आश्रय करके दम तो मान और इनसे युक्त है और मोहा मोह के कारण अविवेक के कारण असत ग्राहम ग्रहित्व असत का मतलब है जो मित्य सिद्धांत यथार्थ सिद्धांत नहीं मोहान अज्ञान भाई असत ग्राहान ग्रहित्वा असंग्रहांकांत है तो झूठा सिद्धांत है मिथ्य सिद्धांत है ऐसा सिद्धांत को ऐसा तत्वों को ग्रहित और उनको ग्रहण करके यथार्थों को समझाने पर भी वो नहीं समझ जाएगा इसलिए <clears throat> क्योंकि उनकी बुद्धि है विषय परक है भोग परक तो है भोग को बताने वाला जो सिद्धांत है उनको अच्छा लगेगा योग परम जो सिद्धांत है उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जिसके अंदर जैसा संस्कार है उसके लिए वही अच्छा लगता है जिसके अंदर जैसा वासना है उसको वही अच्छा लगता है इसलिए जो भोग परक वासना होने से उसको शुभ सिद्धांत है कल्याण परक सिद्धांत है वो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए बोल रहे हैं असत ग्रहान ग्रह अशुभ सिद्धांतान ग्रहित्वा सिद्धांत को ग्रहण करने करके और प्रवर्तनते अशुचि व्रत और उनका व्रत भी अशुचि है अपवित्र है अर्थात उनका आचरण में भी कोई शुद्धता अपवित्र है और ऐसा अपवित्र को ग्रहण करके प्रबल अंत्य संसार में ही प्रवृत्त होते हैं भोग में ही प्रवृत्त होते हैं आसुरी संपत्ति उसके बाद में बता रहे हैं उनकी जो चिंता है समाप्त तो होने वाली नहीं है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है ये बता रहे हैं ग्यारहवें श्लोक में चिंता अपरिमेया प्रलयांतम उपाश्रिता तो प्रलयांतम अपरिमेया चिंता उपाश्रिता तो प्रलयांत का मतलब है चार प्रकार का प्रलय होता पहले बता नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राचीन प्रलय आत्यंतिक प्रलय पीछे बता दिया था नित्य प्रलय का मतलब है सुषुप्ति प्रलय का मतलब प्रारब्ध समाप्ति प्रकार से ये हमारा जो शरीर है प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त उसमें भी प्रतिदिन का जो प्रारंभ है वो अलग अलग माना जाता है जैसा सौ साल का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद सौ का मतलब आगे भी हो सकता है ठीक माना जाता है वैसे ही एक दिन का प्रारब्ध समाप्त होता है हम नित्य प्रलय में जाते हैं सुशुक्ति में तो उसको नित्य प्रलय कहते हैं मृत्यु को भी सुशुद्ध को भी नहीं चपरा लगाना है और नैमित्तिक प्रलय का अर्थ भी बताया था ये हजार युग एक बार बीत जाते हैं तभी ब्रह्म के जो दिन है उसके बाद रात्रि आती है तो ब्रह्मा जी का जो दिन बीतने के बाद जो रात्रि आती है वो नैमित्तिक प्रलय और गर्भ के जो सब सार समाप्त हो जाते हैं यही प्राकृत प्रलया अथवा आत्यंतिक प्रलय भी गाते चौथा प्रलय है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसा होते हैं आत्यंतिक प्रलय अभी यहाँ जो प्रलयांतम का मतलब है मरण मरण लेना नित्य प्रलय मरण पर्यंतम अपरिमेयम उनकी चिंता की कोई सीमा नहीं नहीं है तो प्रलयांतम अपरिमेयम चिंता मरण पर्यंत जो असीम चिंतन चिंता है उन चिंतनों को उपाश्रित मतलब आश्रय करके सारी चिंता ही चिंता है दुनिया भर की उसको आश्रय करके क्या करते वे लोग काम उपभोग काम उपभोग परम काम काम्यंते ही काम विषय तो विषयों के उपभोग में ही तत्पर होते किसी ना किसी प्रकार से मुझे विषय मिले मनुष्यों का भोग करते रहो इस प्रकार से हुए इन्हें वरदान वचन हार चार भाग में ये कहते यावत जीवम सुखम जीवे भूत शरीर से पुनरागमन एक बार शरीर नष्ट हो गया दोबारा कहाँ से मिलेगा इसलिए गणम कृत्वा घटम विवेक आपके पास भी नहीं है ऋण करके कहा क्योंकि शरीर बार बार नहीं मिलेगा ऐसे ही बोल रहे हे तावदी इतना ही विष्णु को भोग करना ही सत्य है कि ऐसा निश्चित हाँ, निश्चय करके बैठे इतना ही नहीं और भी बता रहे हैं उनके आसुरी संपत्ति का आशा पाश शरीर बद्धा आशा एवं आशय आशा लोगों को से आशा का मतलब एक प्रकार से वस्तु की प्रतीक्षा ये वस्तु मुझे मिले ये वस्तु मुझे प्राप्त है इस वस्तु की प्रतीक्षा अथवा वस्तु की इच्छा है उसको आशा करते इसलिए शास्त्र में कहा आशावती को गता निस्वावष्टि शतम शती दश शतम लक्षम सहस्राधिक निष्पाल रहते हैं जिसके पास कौड़ी भी नहीं है वो चाहता है मुझे तो निष्पावष्टि शतम क्षति दश शतम जिसके पास सौ रुपये है वो चाहते हैं मुझे दस हजार रुपये और लक्ष्यम सहस्राधिक दस हजार जिसके पास है वो चाहते हैं मुझे लाख रुपये लक्ष्य शाह जो लाभ है वो चाहता है कि राजा बने और राजा चाहता है चक्रेशता में चक्रवर्ती बन जाओ चक्रेशा पालता चक्रवर्ती चाहता है संतुष्ट नहीं है मैं इंद्र बन इंद्र ब्रह्म बन इंद्र चाह रहे मैं ब्रह्म बनू और ब्रह्मा सोच रहे मैं भगवान विष्णु हूँ और विष्णु सोच रहे मैं शिव हूँ आशावधि को आशा की कोई अवधि नहीं है सीमा नहीं इसलिए हम बता रहे हैं आशा पाशा पाशा रूप तो रश्य आशा रूप रश्य से एक नहीं सैकड़ों अनेक तो आशा रूप आशा से बंधे हुए जकड़े हुए अनेक और काम क्रोध परायण काम है क्रोध है इसमें ही आश्रय परायण बोल तो आश्रय काम क्रोध में ही आश्रित है काम क्या है क्रोध क्या है बाल बताया तो काम क्रोध आश्रित होकर अनेक आशयों के जंजीर में वो जकड़े है बधे है और ये हम आगे हम काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थसंजयम ईहते काम भोगार्थ अर्थात विषय भोग के लिए पदार्थों के भोग के लिए तो काम भोगार्थम अन्याय अन्याय का मतलब कोई अनाचार है या तो लूटपाट करके कुछ भी हो मुझे भोगना है तो इसलिए अन्याय पूर्वक अधर्म पूर्वक अर्थ संजया धन को संग्रह करते हैं उसको ई हम तो चाहते तो अपनी कामना पूर्ति करने के लिए अपने भोग की पूर्ति करने के लिए अन्याय पूर्वक शास्त्र विरुद्ध मार्ग से जाकर धन का संग्रह करने की इच्छा करते ई हंते बोल तो इच्छा करते हैं चाहते उनके लिए मेरे धर्म का कोई मतलब नहीं बस मेरा केवल विषय भूख पूर्ण हो किसी ना किसी प्रकार इस प्रकार चाहते उसके बाद उनका और भी अभिप्राय बता रहे भगवान तेरहवें श्लोक में मया लब्धम इदम मया लब्धम आज मैंने अमुक वस्तु को प्राप्त किया इतना धन कमाया इतनी वस्तु मुझे मिल गई ये मानता है इदम अध्या मया अध्या इदम मया दत्तम इदम प्राप्शे मनोरथम और भी मेरे अंदर मनोरथ पड़ा है और भी प्राप्त करने का उसको भी मैं प्राप्त करूंगा तो इदम मनोरथम प्राप्शे और ये जो मनोरथ है मनोरथ का मतलब मनोरूप रथ घूम रहे विषयों के तरफ से जैसा राजा का जो रथ चलता है हमारा मन है ये मनोरूप रथ है निरंतर विषयों की ओर जा रहे उड़ान भर रहे विचार कर रहे हैं मिले करके तो इसलिए बोल रहे हैं मनोरथम प्राप्त इतना वस्तु को मैंने प्राप्त किया और जो मेरा मनोरथ है उसको भी मैं प्राप्त कर लूंगा कभी ना कभी अवश्य प्राप्त कर लूंगा इदम बोल तो इतना धन मेरा पास है वो तो आगे का धन इधर बोल दीजिए इदम मतलब इतना धन है इदम अभी भविष्य धनम और भी पुनः और इतना धन में प्राप्त चाहे तो कमा करके हो अथवा दूसरे को लूट करके इतना प्राप्त करूंगा इस प्रकार विचार रखने वाले हैं आसुरी संबंध वाले आगे ये धन के विषय में बताने के बाद शत्रु के विषय में बता रहे शत्रु के विषय में क्या सोच रहे हैं चौदहवें श्लोक में बता रहे असो मया हता शत्रु असो शत्रु मया हता ये मेरा शत्रु था दुश्मन है वो हता अर्थात वो शत्रु मेरे द्वारा मारा जा चुका है एक मेरा कांटा था उसको मैंने उकड़ के फेंक दिया और दो तीन जितने भी शत्रु है उनको अपना भी निश्चय छोड़ूंगा नहीं उनको भी एक तो मारा जा चुका है अब दूसरे जो है जितने भी हैं दुष्ट लोग मेरे शत्रु सभी शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा और क्यों ईश्वर हो मैं समर्थ हूँ मैं ईश्वर मेरे जैसा कोई है ही नहीं ईश्वर हो अहम और सारे जो ऐश्वर्य है सारा वैभव है सारा विषय है उसका मैं भोगी हूँ अर्थात भोगने वाला हूँ सब ऐश्वर्य भोग सिद्धो हम और मैं सिद्ध हूँ मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं मेरे जैसा सिद्ध और कोई है नहीं अपने को सिद्ध मान रहे बलवान सुखी दान में बलवान है इतना बलवान हूँ स्वयं भी बलवान है और मेरे पास दूसरा भी बल है और मैं सुखी हूँ मेरे जैसा सुखी संसार में इस प्रकार वो मान रहे ये आश्री संपत्ति अर्थात ये संपत्ति के द्वारा आगे भगवान बताएंगे वो नरक का द्वार खोल दे परमात्मा के एक जाना दूर बात है चिंतन भी नहीं कर सकता उसके बाद पुनः बता रहे मंत्र पंद्रहवें श्लोक में आड्यो अभिजनामानश्मी आड्य कहते हैं पर्याप्त धन श्रीमान मैं इतना धनवान हूँ इतना धनवान मैं आठ्या हूँ भगवान भाष्यकार जी बता रहे धने ना अभिजने ना धन से मैं संपन्न हूं पर्याप्त धन है और अभिजनवान अभिजन कहते हैं बड़ा परिवार है मेरा इतना बड़ा परिवार है और सारे मेरे सेवक है मेरे जैसे कोई है नहीं जैसे एक राजा था पढ़ा लिखा तो था ही वो तो अपने को बहुत बड़ा ही मानता था उसी राजा के वहाँ एक पंडित था था विद्वान उनके परिवार में कोई नहीं थे खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था जहाँ भी जाए कोई काम भी नहीं मिलता था विद्वान होने पर क्योंकि विद्वान होने के बाद छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता तो उन्होंने सोचा पेट को भरना आवश्यक है क्या करें ये पेट एक ऐसा है मनुष्य को जो करने योग्य प्रवृत्ति नहीं उसमें भी प्रवृत्त करता है उन्होंने सोचा चोरी करना है इतना बड़ा विद्वान सोचा कहाँ चोरी करे राजा के वहीं चोरी करे छोटी मोटी क्यों चोरी करे तो राजे के वहां गए तो जाते हुए वहां द्वारपाल से डरे हुआ मैंने सोचा मजाक कर रहे है तो सीधा गए राज राजा का जो महल है जहाँ राजा शयन करते थे वहाँ प्रवेश गए वहाँ जाते लोग वहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हो बोले तो मैं चोरी करने जा रहा वहाँ भी उसको छोड़ दिया तो राजे के महल में घुसे और राजे के खटे के नीचे जाके चुपचाप सो गए और सोने विचार करने लग गए रात्रि में राजा यहाँ आ जाएंगे सो जाएंगे और रानी जितने भी जो आभूषण है राजा कोटाली यहाँ उतार के रखेंगे मैं वहां से उठा के भाग जाऊँगा टूटने में राजा और रानी आ गई अपना सारा आभूषण उतार करके दोनों सो गए और दोनों को गहरी नींद आ गई वो जो पंडित धीरे से बाहर आ गया देखा राजा भी और रानी भी गहरी नहीं भले राजा का सोने का अंकुट उठा दिया और तो ये बहुत बढ़िया है ये भी मिलेगा तो ऐसा किंतु उठाते समय में उसके मन में विचार आ रहे थे कि विद्वान है विचारक है भले भी वो गलत काम में रहे तो अंदर से मन नहीं मानता है अंदर से आवाज आ रहा है विद्वान पंडित धिक्कार है तुझे केवल पेट के लिए तुम इसको चोरी करते हो नहीं रख दिया ऐसे ही एक एक उठाते उठाते रख दिया बाद में उन्होंने निश्चय किया चलो ये राजा के सामने लूटा उठा के ले जाऊंगा तो सामने ले गए तो इसको चोरी नहीं माना जाता है किंतु तो अभी राजा सोए सुबह जग जाएंगे तभी मैं भी ले जाऊंगा तो वो भी सो तो भोर में राजा उठा उठा और अपना वैभव रानी को बता रहे चेतो हरा युवतया सुरदानुकूला हे रानी देखो मैं कितना धन्य हूँ कितना सुंदर प्रिय है मेरा सेवक चेतो हरा युवतया सुरदानुकूला सतपान करा देखिए मेरे सगे संबंधी कितना है सेवक कितने हैं सब कुछ गर्जन के दंति ने वहा हाथी देखे वहां चिंता रहे घोड़े चिंतना रहे इतना धन्य हो इतना धन्य हो उस लोग तीन बार बार बार बोल रहे चौदह पार उसके अंदर आ रहे बार बार अपना वर्णन कर रहे उतने में खटिए के नीचे सोया था पंडित वो बोल रहे सम्मेलने नयनयो न दृष्टि सम्मेलने नयनयो न जगिं राजा ही फूटा दे कौन बोल रहे हैं किसे एक जिसे आ रहे अरे तुम कौन हो तुम तुम्हें चोर राजा ने कहा तुमने वास्तव में चोरी कर दिया मेरे अंदर अज्ञान पड़ा था आपने मुझे संकेत दे दिया अर्थात उसका अर्थ है राजन जो भी आप वर्णन कर रहे हैं जब तक आपके आंख खुले आंख बंद होने के बाद सम्मेलन नयन लटकिंचित रहते कुछ भी है इधर तो इसलिए मेरा अंदर जो अज्ञान था आपने चोरी किया हाथ से आप मेरा गुरु है वो गुरु बना तो कहने का तात्पर्य ये है अपना जो अनुभव को वर्णन करता रे मैं आज्ञा हूँ यही बता रहे आज्ञा जनवान अश्मी मेरे पास इतना परिवार है नीलो सदृशो मया मेरे समान कोई दूसरा है नहीं मैं ही अकेला हूं मेरे सदृश कोई है नहीं और यक्षे यक्ष बोल दो तो बड़े बड़े में यज्ञ करूँगा दास्यामी दान भी खूब देंगे जिनको पंडितों को नहीं भाष्यकार बोले नटा देना जो नाचने वाले हैं उनको बुलाएंगे उनसे नृत्य करवाएंगे और उनको दान देंगे मोदिश्य उसमें भी मैं भी नाचूंगा मैं भी आनंदित हो जाऊँ इति अज्ञान विमोहिता इस प्रकार अज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार से नाना प्रकार के अविवेक भाव से युक्त है ये कौन है आखिरी संपत्ति वाला उसके बाद दोबारा बता रहे सोलहवें श्लोक में सारे आसुरी संपत्ति का ही निर्माण कर रहे अनेक चित्त विभ्रांत अनेक प्रकार के विषयों में अथवा विचार में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार में उसका जो चित्त है विभ्रांत भ्रमित हो रहे स्थिर नहीं चित्त और मोहजाला समावता ये मोहब्बत बहुत जाला है मछुआर का जैसा जाला होता है ये मोह भी जाला है उसमें भी आप फंस गए उसमें छूट नहीं सकते निकलना मुश्किल हो जाता है इसलिए मोह जाला में फंसा है समावता है तो चारों तरफ से घर है प्रसन्नता काम भोगेशु काम का मतलब विषय काम्यते काम जितने भी जो विषय है कामना पूर्ण करने वाले इन भोगों में प्रसक्त है प्रसक्त बोल तो उसमें लगा है निरंतर लगा है भोग के ऐसा व्यक्ति आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति भगवान बता रहे अशुचो नरके पढ़ती अशुचो बोलो अत्यंत अपवित्र भगवान भाष्यकार बता रहे वैतरणी आदि वैतरणी नदी है मवाद से बनी हुई अशुपत्र नाम का भी नरक है ऐसे जो नरक में वो गिर जाता है नरक का अधिकारी बनता है ये जो आधुनिक संबंध उसके बाद वो जो आधुनिक संपत्ति है उसके विषय में और भी बता रहे हैं देखिए दैवी संपत्ति में केवल छब्बीस छब्बीसवीं श्लोक में समाप्त कर दिया है आसुरी संपत्ति है ज्यादा बता है क्योंकि आसुरी संपत्ति अधिक है त्यागना है जैसे न्याय में एक आता है एक हेतु होते हैं हेतु आभास है सिंधु मतलब कारण जिसके द्वारा आप सिद्ध करते पहले भी बताया था मैंने ये पर्वत में आग है तो पर्वत में वन्य क्यों है धुआं धूम होने तो धूम के द्वारा अग्नि को हम सिद्ध करते हैं तो अग्नि सिद्ध करने के लिए हाँ धूम हो गया हेतु तो वहां हेतु तीन ही बताए केवल अन्वय केवल विवेक और अन्वय हेतु तो आभास पांच बता रामायण में लेके पूछे रामायण वाले गुरुजनों को उन्होंने पहले नमस्कार किया सज्जनों को बात तो वैसे ही हम आर्थिक संपत्ति का विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहे साधन सतर्क होना तो सदर्श तो होते हुए ये आखिरी संपत्ति को त्याग करके गरीबी संपत्ति अपना इसलिए बता रहे सत्रहवें श्लोक में ही बता रहे आत्मसंभावित आत्मसंभावित का मतलब है अपने आप को श्रेष्ठ मान के देखना लेकिन दूसरा जो श्रेष्ठ मान रहे हो अलग बात है अपने आप को मेरे जैसा कोई बड़ा कोई मैं ये सबसे श्रेष्ठ हूं कि अपने आप जो मानता है स्वयं को स्वयं मानता है उसको कहते हैं आत्म संभाविता बता रहे सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एवं संभाविता आत्म संभाविता अपने आप को सर्वगुण संपन्न मान करके स्वयं ही स्वयं की प्रशंसा करता है स्वयं ही स्वयं को बड़प्पन मान रहे हैं इसको कहते हैं आत्मसंभावता स्तब्धा स्तब्ध का अर्थ है घमंडी घमांड अलग अलग विषयों को लेकर होता है धन को लेकर भी होता है विद्या को लेकर भी होता है रूप को लेकर भी होता है मांड है अनर्थ का उपनिषद में देखे तत्वशी वाक्य आप लोगों ने सुना भी होगा छांदोग्य सातवें अध्याय छठवें अध्याय में वहाँ के श्वेत के तो गुरुकुल में जाके अध्ययन करके आ गए बारह साल बारह साल आने के बाद पिताजी के सामने खड़े हो गए आगे प्रणाम करना चाहिए एक नियम होता है पूजनीय है बड़े लोग हैं उनको मिलते समय प्रणाम किया जाता है तो बालक बिल्कुल एकदम खड़ा हो तभी वहां पिता ने पूछा हे सौम्य तम आदेश अपराक्षी क्या गुरु जी से आपने वो आदेश को तो उपदेश ग्रहण किया जिसे सब कुछ जाना जाता है तभी उन्होंने कहा भगवान मैं नहीं जानता हूँ आप ही बता दीजिए तो तभी जाके उनको वहाँ तत्वशी का उपदेश किया वैसे ही बृहतारण्य उपनिषद में भी आता है दूसरे अध्याय में अजात शत्रु के पास द्रिप्य बालक काशी राजता अजात शत्रु ದ್ರವ್ಯ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಘಮಾಂಡಿತ राजे के पास गया तो राजे के पास जाते हैं राजा ने देखा ये बालक की घमांडी पहचान लिया उसका सत्कार नहीं किया तुरंत जाके पूछा राजा ने क्या तुम कोई शिक्षित है पटित हो उन्होंने भी कहा हो करके संबोधन किया हाँ राजा तुम्हें पढ़ा लिखा हो मूर्ख नहीं तो राजा ने वहां से कहा अच्छे पढ़े लिखे हो और उसने कहा मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करता सीधा बोल दिया ब्रह्म दे ब्रवाणी तो राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है ब्रह्म तत्व को सुनने के लिए मैं बैठा बताओ तो उन्होंने कहा जो लोग में जो अभिमान करने वाला है उसको मैं उपासना करता राजा ने कहा माँ माँ संवादिष्टा हे बालक इसके विषय में संवाद ये नहीं जानता हूँ उपासना की तो ऐसा करते करते बालक वहाँ भारतीय मंत्र हमें जो बताता राजा मना था उसके बाद राजा स्वयं बोलते क्या इतना जानने से तो ब्रह्मज्ञानी हो सकते हो नहीं हो सकते तभी वहाँ बालक है उसका अभिमान चूर हो जाता है और कहा राजन मैं इतना ही जानता हूँ मैं आपके शरण में लज्जित हो जाता है घमांड घमांडचूर हो जाता तभी राजा उसका हाथ पकड़ के कहा था डरो मत मैं आपको उपदेश करूंगा सोए हुए पुरुष के पास ले जाते पहले उसको ग्रहण बृहन सोमा राज सोमो राजा करके संबोधन करके पुकारते सोया और उसको सुनता उसके बाद हाथ से थपथपा कर को जगाना तो जगाने के बाद राजा दो तो तो प्रश्न करता है कहा गया था जगाने सोया था उस समय वो कहा गया था और हाथ से थपथपा कर जगाने के बाद कहाँ से आया दो प्रश्न किया उसके द्वारा सारा वेदांत वहाँ शिकार तो कहने का तात्पर्य स्तब्ध मतलब हमारी धन मान मदान्विता धन है मान सम्मान है उससे अन्विता युक्त है अर्थात मैं ही धनवान मैं ही सम्मानीय पुरुष है इस प्रकार अपने को मानकर उससे अभिमान करना है और यजन दे यज्ञादि भी करता हूँ ऐसा नहीं किंतु ऐसे नाम यज्ञ ये नाम यज्ञ क्या होता है नाम यज्ञ मतलब नाम के लिए यज्ञ जो किया जाता है वो नाम है तो नाम यज्ञ कोई अलग नहीं है द्रव्य यज्ञ है तपो यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ है ये तो बता दिए पीछे नाम यज्ञ नहीं बताया यह नाम यज्ञ का मतलब है केवल अपने नाम के लिए ही अपने कीर्ति के लिए ही अपने यश के जो यज्ञ करता है उसी का नाम है नाम यज्ञ ते अविधि पूर्वक यज्ञ तो करता है जैसा शास्त्र में बताया उस नियम के अनुसार नहीं नाम अर्थात दिकावट के लिए दम अर्थात दिकावट पर विधि कम है और जो जा रहा है ऐसा दम्भपूर्वक और अविधिपूर्वक कोई नियम नहीं जैसा है वैसा करते हैं ऐसा जो यज्ञ करते हैं आंसू की संपत्ति वाले और भी बता रहे देखिए अहंकार दर्पम कामम क्रोधम च संतृता और अहंकार अहंकार का स्तुति करते भगवान भाष्य का अहंकारो विद्यमाने अविद्यमाने च गुणे आत्मने अध्यारोपिते विशिष्ट आत्मा अहम इति मन्य जैसा हम है हम है करने वाला ना अतः मैं कर रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ मैं करूँगा इसी प्रकार जो एक वृत्ति है इस वृत्ति का नाम है अहंकार जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हो कुछ गुण आरोपित किया जाता है हाय नहीं आरोपित किया जाता है और विद्यमान हो अथवा अविद्यमान हो विद्यमान गुण हो अथवा अविद्यमान हो तो अपने को श्रेष्ठ मानकर मैं श्रेष्ठ मनुष्य हूँ मेरे अंदर सभी गुण है इस प्रकार जो मानता है उसका नाम है अहम का है ऐसे जो अहम वृत्ति और बलम बल का मतलब है मैं बहुत बलवान हूँ मेरे जैसे कोई बल है नहीं मेरे पास सभी बल है मैं सबको परास्त कर सकता हूँ इस बल को आश्रय स्वयं का बल हो अथवा अन्य लोगों का बल मित्र आदि दर्प दर्प का मतलब है जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण करता है एक अंतकरण की वृत्ति तो धर्म वृत्ति जो अंतकरण में आने पर वो व्यक्ति सोचा जो मैं कर रहा वही ठीक है शास्त्र राम ने दूर शास्त्र तो अपना काम करेंगे जो मैं कर रहा वही ठीक है तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने बताया जो धर्म वृत्ति उत्पन्न होने के बाद जो मनुष्य है धर्म का अतिक्रमण करता है धर्म को नहीं मानता है ऐसी जो वृत्ति है धर्म कहते हैं काम काम का अर्थ है कामना विषय प्राप्ति की इच्छा क्रोध जहाँ कामना विघात हो जाती है तभी वो क्रोध में परिणत होता है क्रोध क्या है कितना प्रकार है कल बता दिया था संश्रित इन सबको आश्रय किया है और भगवान बता रहे अभ्य सूर्य कहा अभ्य सूर्य का मतलब निंदा करने वाला है बस सदा निंदा ही करते रहता है सबका निंदा करने वाला और आत्मा पर देहेश अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाला काम भगवान बता रहे मैं सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ इसलिए स्वयं के शरीर में और दूसरे के शरीर में पृथ्वी प्रतिष्ठो अर्थात उसका द्वेष कर रहे सबके अंदर विराजमान जो अंतर्यामी है परमात्मा है उसे वो द्वेष करता है सदा द्वेष करने का ही उसका स्वभाव है तो ऐसा व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ भगवान बता रहे यहाँ तक जो आसुरी संपत्ति बता दिया अभी आसुरी संपत्ति वालों को मैं क्या करता हूँ ये बता रहे मुनि श्रेष्ठों श्लोक में तान अहम तान को तो ऐसे आसुरी संपत्ति वाले को द्विशता द्विशता बोलो द्वेष करने वाले आगे हम गया अशुभान अशुभान बोलते तो पापाचार नराधमान ये सब चीजें क्रूरान नराधमान अशुभान अत्यंत क्रूर भी है नरों में अधम भी है और पापाचारी है उन लोगों को आसुरी आसुरी योनि में ही मैं डालता हूँ उनकी कभी सरकत नहीं होगी किन किन एक तो क्रूर है नराधम है अशुभान है अत्यंत क्रूर नरों में अधम है पापचार ऐसे जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनको बार बार में आसुरी संपत्ति में अर्थात आसुरी योग में ही क्षिपा में बोल दो तो उसको फेंकता हूँ अर्थात तो वही उसका जन्म के लिए में सम्मानित हुआ उसके बाद आगे बता रहे हैं विश्व श्लोक में देखे आसुरी योनिम आपन्ना आसुरी संपत्ति के द्वारा आसुरी योनि में जन्म लेता है ऐसे जो आसुरी योनि को प्राप्त करके मूड़ा अविवेकी अज्ञानी कर्तव्य मूड़ा कर्तव्य कर्तव्य से रही जन्मने जन्मने अतः बार बार पुनः पुनः मान अप्राप्या मुझे प्राप्त नहीं करेगा कितने जन्म बीत भी जावे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है माम अप्राप्त तब तो हो अधमा गति प्यारे वो नीचे की ओर ही जाते रहे ऊपर नहीं जैसा कोई एक बार दलदल में फंस गया है उस दलदल से ऊपर आना मुश्किल है जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही वो नीचे जाता है वैसे ही अदमान नहीं नीचे वो नहीं जाते रहेगा वह पाप करते रहा है इससे भगवान ये संकेत दे रहे एक बार व्यक्ति प्रमाद करे प्रमाद से ऊपर उठना कठिन होता है विवेक सुनान ने बता दिया है केली कंतु का वस्तु जैसा गेंद है यदि गेंद सीढ़ी के ऊपर गिर गए नीचे जाके ही रुक जाएंगे आप नहीं पकड़ सकते वैसे ही प्रमाण भी हो गया वो नीचे नीचे जाता है सतर्क कर उसके बाद ये नरक का द्वार बता रहे तीन है नरक जाने का द्वार जिनको नरक जाना है ये तीन द्वार है नरक से बचना है तीन द्वारों को बंद करना इक्कीस में बता रहे त्रिवेदम इदम द्वार तो नरक के ओर जाने के लिए तीन द्वार खुले और नाशनम आत्मना आत्मना नाशनम मतलब अपना जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष उसका नाश करना आत्मा का नाश आत्मना आचरित बोल तो आत्मा कल्याण के लिए वो आचरण करता है साधना आदि करता है श्रेय श्रेय आत्मना आचरण ततो याति पराम गति इस प्रकार आत्मकल्याण के साधना करते करते पराम गति बोल दो तो जो उत्कृष्ट गति है परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त करता है इसके लिए तीन द्वारों को पहले बंद करना पड़ता यदि कोई शास्त्र के मर्यादा उल्लंघन करता है अपना मर्जी से जाता है वो मुझे प्राप्त नहीं होता भगवान यहाँ चेतावनी दे रहे हैं तेईसवीं श्लोक में यह शास्त्र विधि मुस्रच्छा शास्त्र के विधि के अनुकूल ना चलते हुए शास्त्र से विपरीत चल रहे उसको बोलते शास्त्र विधि काम का वर्तन है मन मर्जी से चल रहे तो मन मर्जी अपना इच्छा से जो चल रहा है नशा सिद्धि मापनो हे अर्जुन वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा सिद्धि मतलब ना अंतकरण शुद्ध होगा ना परमात्मा सिद्धि का दोनों अर्थ होता है अंतकरण शुद्धि को भी सिद्धि कहते हैं और परमात्मा प्राप्ति का नाम भी सिद्धि किंतु दोनों का उत्पत्ति अलग करना पड़ता है स सिद्धि ना अपनौती अर्थात वो जो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है अर्थात पुरुषार्थ का योग्य नहीं न सुखम न पराम गति न उसके लिए सुख मिल सकता है न कोई परागति जो शास्त्र का मर्यादा का उल्लंघन होगा इसलिए अंतिम में भगवान बता रहे हैं निर्णय करके बता रहे तस्मा शास्त्र प्रमाण हे अर्जुन इसलिए शास्त्र प्रमाण है भगवान बता रहे हैं मेरा वचन प्रमाण नहीं है शास्त्र प्रमाण है नहीं तो कहा सकते थे भगवान मेरा वचन प्रमाण नहीं बोल रहे तस्मा शास्त्र प्रमाण ते ते बोलो तुझे ये शास्त्र ही प्रमाण है किसके विषय में कार्य कार्य में वस्तु कार्य तो कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है लक्ष्य क्या है अलक्ष्य क्या है प्राप्तव्य क्या है त्याज्य क्या है ग्राह्य क्या है और त्याज्य क्या है इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है कार्य कार्य व्यवस्थित हो ते शास्त्र प्रमाण केवल आपके लिए नहीं सभी साधकों के लिए ज्ञातवा शास्त्र विधानोत्तम शास्त्र के विधान के जो बताया है उसको जान करके कर्म कर्तुम विहारवासी यहाँ शास्त्र में जो बताया हुआ शास्त्र में जो विधान किया है उसको ठीक से जान करके वैसे ही कर्म करने के लिए तुम योग्य है ये कर्तव्य कर्म है ये अपना मर्जी से अपने इच्छा अनुसार ये करते मैं संन्यास ले युद्ध नहीं करूँगा तुम भी न ये संकेत है शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह बोल तो यहाँ अस्मिन संसार अर्थाशी इसलिए शास्त्र प्रमाण है शास्त्र के अनुसार चल रहे भगवान ने बता दिया तो यहाँ हम संक्षेप से सोलहवें अध्याय के ऊपर विचार सत्रहवें अध्याय के ऊपर सायकाल ओम शांति शांति शांति